तुरियातीतोपनिषद यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है इसे तुरियातीतावधूतोपनिषद भी कहा जाता है इस उपनिषद में पितामह ब्रह्मा जी तथा आदि नारायण का प्रश्नोत्तर विद्यमान है जिसमें पितामह ब्रह्मा जी ने अपने पिता आदि नारायण से तुरियातीत अवधूत का मार्ग पूछा है आदि नारायण इस मार्ग पर चलने वालों की दुर्लभता बताते हुए अवधूत का आचरण व्यवहार चिंतन मनन आदि की वह कार्य पद्धति बताई है जिस पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर लेता है अंत में इस उपनिषद की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए इसे पूर्णता प्रदान की गई है शांति पाठ ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति हरि ओम अथ तुरीयातीतावधूता कोऽयं मार्गस्तेषां का स्थितिरिति सर्वलोकपितामहो भगवन्तं पितरमादिनारायणं परिसमेत्योवाच तमाह भगवान् योयम अवधूत लोके दुर्लभतरो न तो बाहुल्यो यद्येको भवति स एव नित्यपूतः स एव वैराग्यमूर्तिः स एव ज्ञानाकारः स एव वेदपुरुष इति ज्ञानिनो मन्यन्ते महापुरुषो यस्तच्चित्तं मय्येवावतिष्ठते अहं च तस्मिन्नेवावस्थितः सोऽयमादौ तावत्क्रमेण कुटिचको बहुदक प्राप्य बहुदको हंसत्वम् हंस परम हंसो भूत्वा स्वरूपानुसन्धानेन सर्वप्रपञ्चं विदित्वा दण्डकमण्डलोकटिसूत्रकौपीनाच्छादनं स विद्युक्त सर्वमप्सु सन्न्यस्य दिगंबरो भूत्वा विवर्णजीर्णवल्कलाजीन परिग्रहम अपि संत्यज्य तदूर्ध्वम् अमन्त्रवदाचरान् क्षौराभ्यङ्गस्नानोर्ध्व पुण्ड्रादिकं विहाय लौकिकवैदिकम् अपि उपसंहृत्य सर्वत्र पुण्यापुण्यवर्जितो ज्ञानाज्ञानम् अपि विहाय शीतोष्णसुखदुःखमानावमानं निर्जित्य वासनात्रयपूर्वक निंदा क्रोध लोभ मोह हर्षामर्षा सूयात्मसंरक्षणादिकं दग्ध्वा संरक्षण कुणपाकारमिव पश्यन् यत्नेनाडीयमेन लाभालाभौ समौ कृत्वा गोवृत्त्या त्राणसन्धारणं कुर्वन्यत्प्राप्तं तेनैव निर्लोलुपः प्रपंचम भस्मीकृत स्वूप स्वरूपं ज्येष्ठा ज्येष्ठाज्येष्ठत्वानां पलापक सर्वोत्कृष्ट सर्वात्मकत्वाद्वैतं कल्पयित्वा मतो व्यतिरिक्तः कश्चिन्नान्योऽस्तीति देवगुह्यादिधनमान्युपसंहृत्य दुःखेन नोद्विघ्न सुखेन नानुमोदको रागे निस्पृह सर्व शुभाशुभयो अनभिस्नेह सर्वेन्द्रियो परमः विद्याधर्म प्रभावमनुस्मरन्त्यक्तवर्णाश्रमाचारः सर्वदा दिवानक्तं समत्वेनात्स्वप्नः सर्वत्र सर्वदा संचारशीलो देहमात्रावशिष्टो जलस्थलकमण्डलो सर्वदानुन्मत्तो बालोन्मत्तः पिशाचवदे काकी संचरन्न सम्भाषणपरः स्वरूपध्यानेन निरालम्बम् अवलम्ब्य स्वात्मनिष्ठाकूल सर्व विस्मृत्य तुर्याति तवधूतवेशयना निष्ठापर तृणवात्मक देहत्यागम करोति योवधूत स एक बार समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा ने अपने पिता आदि नारायण के निकट जाकर उनसे पूछा भगवान तुरियातीत अवधूत का मार्ग कौन सा है और उसकी कैसी स्थिति होती है भगवान नारायण ने उनसे कहा अवधूत पथ पर चलने वाले इस लोक में दुर्लभ हैं वे बहुत नहीं होते यदि एकाध होता भी है तो वह नित्य पवित्र वैराग्य मूर्ति ज्ञानाकार और वेद पुरुष होता है ऐसा विद्वत जन मानते हैं ऐसा महापुरुष अपने चित्त को मुझ में अवस्थित रखता है और मैं उसी में स्थित होता हूँ वह प्रारंभ में कुटीचक होता है तत्पश्चात बहुधकत्व प्राप्त करके हंसत्व का अवलंबन लेता है हंस होकर फिर परम हंस बनता है वह निजस्व रूप के अनुसंधान द्वारा समस्त प्रपंचों के रहस्य को जानकर दंड कमंडलू कटिसूत्र कौपीन आच्छादन वस्त्र और विधिपूर्वक की जाने वाली नित्य क्रियाओं को जल में विसर्जित कर देता है और दिगंबर होकर जीर्ण वलकल और अजिन अर्थात मृग चर्म के भी परिग्रह को छोड़कर समस्त प्रकार का निषेध करके आमंत्रवत होकर क्षौर कर्म केस कर्तन दाढ़ी बाल आदि बनवाने अभ्यंग स्नान उबटन लगाकर स्नान करने तथा ऊर्ध्वकुंड मस्तक पर तिलक लगाने को भी छोड़कर वैदिक और लौकिक कर्मों का उपसंहार करके सर्वत्र पुण्य और अपुण्य को भी त्याग कर ज्ञान और अज्ञान को भी छोड़ देता है वह शीत उष्ण सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान को भी जीत लेता है वह शरीर की तीनों वासनाओं सहित निंदा अनिंदा गर्व मत्सर दम्भ दर्प इच्छा द्वेष क्रोध लोभ मोह हर्ष अमर्ष असूया और आत्मसंरक्षण आदि को भावाग्नि में जलाकर अपनी काया को मुर्दे की तरह देखता हुआ प्रयत्न और नियम के बिना लाभ और हानि को समान करके गौवृत्ति से अर्थात गौ की तरह जो कुछ मिल गया उसी में संतोष करके प्राण धारण किए रहता है वह सब प्रकार से लाल लालच रहित होकर समस्त विद्याओं और पांडित्य को भस्मीभूत करके अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाते हुए छोटे बड़े के भाव को बाह्य व्यवहार में पूर्वत अज्ञानी के समान बनाए रखता है सर्वोत्कृष्ट सर्वात्मक रूप अद्वैत की कल्पना करके उसका यह मानना होता है कि मेरे अतिरिक्त कुछ और नहीं है वह देव रहस्य अर्थात गुह्य आदि धन को अपने अंदर समेट करके अर्थात देव रहस्यों को अपने में गोपनीय करके न दुख में उद्विग्न होता है और न सुख में प्रसन्न होता है वह राग में स्पृहा नहीं रखता और न शुभ अशुभ किसी बात से स्नेह रखता है उसकी समस्त इंद्रियां उपराम को प्राप्त हो जाती है वह अपने पूर्व के आश्रम विद्या धर्म प्रभाव का स्मरण नहीं करता और वर्णाश्रम आचार का परित्याग कर देता है दिन और रात के प्रति समान भाव रखने के कारण वह कभी सोता नहीं अर्थात सदैव जागृत रहकर सावधान रहता है वह सतत सर्वत्र विचरणशील रहता है उसका शरीर मात्र अवशिष्ट रहता है अर्थात वह सदैव ब्रह्म रूप होकर शरीर में रहता है और शरीर द्वारा व्यवहार करता है जलस्थल अर्थात सरोवर कूप आदि उसका कमंडलू होता है वह सदा अनुन्मत्त रहता है किंतु बाहर से बालक उन्मत्त और प्रसाद आदि के समान एकाकी वितरण करता हुआ किसी से संभाषण नहीं करता और अपने वास्तविक रूप के ध्यान द्वारा निरालंब का अवलंबन लेकर अपनी आत्मनिष्ठा की अनुकूलता से अर्थात आत्मनिष्ठ होकर सबको भुला देता है इस प्रकार से जो तुरियातीत अवधूत के वेश वाला सतत अद्वैत निष्ठा प्राण होकर प्रणव भाव में निमग्न होकर शरीर का परित्याग करता है वह कृतकृत्य हो जाता है यही इस उपनिषद का प्रतिपादन है ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति शांति शांति हरि ओम इति तुरियातीतोपनिषद समाप्ता